और लोगों में हज का ऐलान कर दें वो आपके पास पैदल और हर लागर ऊंट पर सवार होकर आएंगे वो दूर दराज रास्तों से आएंगे